ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय भारत भूमिते হইল মনুষ্য জন্মজা जन्म सार्थक हरि करो चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है विशेषकर सब भारतवासियों में भारतवासी कितने हैं कितने हैं एक सौ दस करोड़ एक सौ पच्चीस को अंकाओं एक सौ सैतीस अठाईस बढ़ते हैं दिनेश नहीं उससे और बहुत ज्यादा है मनुष्य संख्या भारतवासी में और कितना कुत्ते हैं भारत में कम से कम कितना एक क्रॉ है नहीं इतना सब नहीं आधा क्रॉ शायद गाय कितना है बहुत हर रोज बहुत गाय का कटना है शर्म की बात है भारत माता की माता है गौ माता लेकिन गौ माता की कटना भारत का एक विशेष उद्योग है भारत का एक गौरव है कि पूरे दुनिया में क्षमा का number one producing country, number one leather product production, Bharat. Yeah, Bharat se kaho, Sharam के से कहो तो ऐसे ही पक्षी पैर कीट कृमि वे सब भारतीय है चैतन्य महाप्रभु का उपदेश Bharata bhumite hoilo manusha मनुष्य जो मनुष्य जन्म लेते हैं भारत में उनका विशेष अवसर है जन्म सार्थक कर सार्थक मतलब सफल सर्थ अर्थ और अर्थ क्या है परम अर्थ अर्थ का मतलब रूपी डॉलर यूरो वो सब नहीं हर विशेषकर भारत में पारमार्थिक उन्नति के लिए वातावरण समीचीन बराबर चंद्र साथ खड़ी करो फर उपका फर उपका खड़ा शब्द का मतलब दूसरों का उपकार और फर का मतलब परम परम उपकार का मतलब परमार्थ के द्वारा दूसरों का कल्याण कार्य का विधान करो तो पहले जन्म सार्थक कर पहले आपन का उद्धार करना चाहिए हम यदि परमार्थ प्राप्त नहीं है तो कैसे हम परमार्थ का शिक्षण देंगे तो पहले आपन को मजबूत बनाना चाहिए परमार्थिक विधान में तो भारतीय संस्कृति उस प्रकार भारतीय संस्कृति का मूल आधार है कि भौतिक विकास का कोई विशेष अर्थ नहीं है क्योंकि सब कुछ दुनिया में क्षणिक है परमार्थ का दूसरा नाम है अध्यात्म क्योंकि हम आत्मा है हम सनातन है इस विचार भारतीय संस्कृति का मूल है हम सनातन है इसका मतलब इस जन्म के पहले में तक और मृत्यु के बाद में होंगे जन्म और मृत्यु क्या है केवल शरीर का दो प्रकार का परिणाम लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ मैं आत्मा हूँ तो ये आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना और इसके अनुसार परमार्थ प्राप्त करना यही भारतीय संस्कृति का मूल है ये सनातन धर्म और ये सब देवी देवी की पूजा करना वो सनातन धर्म नहीं है क्योंकि देव एक बात है कि देव देवियों की स्थिति वो भी सनातन है आज का इंद्र काल तो इंद्र गोप हो सकते गोप संस्कृत में इंद्र गौतमा का एक छोटा सा कीट जिसका नाम है इन दो प्रकार का इंद्र है इंद्र राजा महेंद्र देवेंद्र और दूसरा है एक बहुत छोटा सा कीट तो आज का इंद्र स्वर्गराज इंद्र तो काल दूसरे प्रकार का इंद्र हो सकता संसार चक्र ऐसे है तो कैसे अगर देवताओं की स्थिति निर्दिष्ट नहीं है तो कैसे देव देवियों की पूजा सनातन धर्म और देव देवियों की पूजा करने से किस प्रकार का फल मिलता है अंधभक्तु फलम तेषम अंधभक्त अर्थात क्षणिक अस्थाई तो सब कुछ जो हम मिल सकते हैं देवियों की पूजा से और हम भौतिक सुविधा भौतिक द्वारा मिल सकते लेकिन सब अस्थाई इसलिए सनातन धर्म इस शब्द का वास्तव अर्थ वो धर्म जो हम त्रिकाल में करते हैं या कर सकते हैं और जिसका फल अव्यय है अव्यय ये शब्द यही बात भगवत गीता में आते हैं का मतलब अंग्रेजी में एक्सपेंडिचर खर्च खर्च मतलब अगर हम अगर मेरा पास हजार रुपया है और आपको सौ रुपया देता हूँ तो मेरे पास खाली नौ सौ रुपया है लेकिन आत्मा और भगवान उस प्रकार नहीं है भगवान सदैव उनका सच्चिदानंदमय अवस्था में स्थित है और, अगर उस अगर हम कुछ काम करते फिर हम थक जाते हैं फिर कुछ ठंडा लेना है आराम करना है फिर हम और भी बाउल होते लेकिन भगवान उस प्रकार नहीं भगवान सभी प्रकार की शक्तियों की मूल स्रोत और भगवान जितने भी काम करते हैं तो कभी भी थक नहीं सकते इसलिए भग, और भगवान का सच्चिदानंदमय स्वरूप काल का अधीन नहीं है इसलिए भगवान तो कभी भी वृद्ध नहीं होते कभी भी नहीं देखते भगवान का चित्र जिससे सफेद बाव है या आधा बाव तो गिरदाय है ऐसे नहीं या वो लाठी लेके जाते ऐसे नहीं व्हील चेयर में भगवान नहीं जाते एक नकली भगवान है दक्षिण भारत में इसको बहुत लंबा बल था इसको का अभी तो सब गिल जाए और व्हील चेयर में जाते व्हील चेयर का भगवान किस प्रकार का सब भगवता लोग बोलते भगवान भगवान किस प्रकार है अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूप माध्यम पुराण पुरुषम नम योगनम च कहीं शब्दों से भगवान गोविंद आदि पुरुष का वर्णन है अद्वैत मतलब वे एक व्यक्ति है अच्युतम मतलब वे अचित का मतलब अजित उनका पतन या मोह कभी भी नहीं है अनादिन कई लोग पूछते हैं नास्तिक लोग पूछते हैं कि अगर भगवान सभी वस्तुओं की मूल स्रोत है तो भगवान का स्रोत क्या है तो उत्तर है कि भगवान का कोई स्रोत नहीं है अनादि इस भौतिक जगत की सृष्टि होती है पालन और प्रलय होते हैं और इस प्रकार सृष्टि स्थिति प्रलय फिर सृष्टि स्थिति बार बार इस प्रकार परंतु भगवान अनादि है अनादि अनंत अनादि का मतलब इनके पहले कुछ नहीं था और उनका अंत कभी भी नहीं हो हम लोग आदा कोई मृत्यु बाकी मृत्यु मुखी है हम बोलते हैं उसका अंतिम काल हो रहा है लेकिन भगवान कृष्ण का ऐसा नहीं उनकी दिव्या लीला प्रकट करने के लिए वे एक असहाय शिशु जैसे यशोदा माई का स्तन पान करते हैं लेकिन वो छोटे से शिशु जब आवश्यक है तो पूतना राक्षसी का स्तनपान करके वो महती राक्षसी का प्राण हरण करते साथ साथ तो इतनी महती राक्षसी थी कि महान देवताओं भी पुतना आधा पाका ये सब आसुरों से भाई भीत होते थे लेकिन भगवान कृष्ण जो एक छोटा सा शिशु के रूप में थे बिना कष्ट बिना श्रम राक्षसी पूतना का प्राण हरण तो यही प्रमाण है कि कृष्ण भगवान क्योंकि इस हम कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ लोग कुछ योग अभ्यास करने से कुछ सिद्धि मिलते हैं और इस प्रकार कुछ चमत्कार कर सकते लेकिन भगवान कृष्ण तो एक मतलब उनका तथा कथित जन्म के एक महीना के अंदर में जिसमें अवसर नहीं था और समय नहीं था योग अभ्यास करने के लिए और शिशु छोटा शिशु कैसे योग अभ्यास कर तो संभव नहीं तो उनकी स्वतः सिद्धि अर्थात स्वाभाविक सिद्धि सब सिद्धियां भगवान कृष्ण के दास और उनके लिए किसी भी काम असंभव नहीं तो इस प्रकार भगवान कृष्ण सदैव भगवान अनादि अनंत और ऐसा काल कभी भी नहीं होगा जिसमें कृष्णा और भगवान का पद से निवृत्त हुए अभी बहुत काल में मैं भगवान था अभी थक गया हुआ तुम भगवान बन और मैं नैनीताल जंगल जंगल वहाँ रिटायर ऐसे नहीं भगवान सदैव भगवान है अनादिम अनंत रूप उनके अनंत रूप अनंत का मतलब जिनका अंत मृत्यु कभी भी नहीं होते और अनंत का मतलब असंख्य वे अद्वैत है भगवान एक अनेक भगवान नहीं है हिंदू धर्म में एक थोड़ा गलत फहमी है कि अनेक भगवान है ऐसा नहीं भगवान एक है भगवान का मतलब सर्वोपरि तो सर्वोपरि का मतलब खाली एक हो सकता हाँ। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं मथक अतरम नान्यत किंचित अस्ति मैं सबके ऊपर हूँ अगर एक व्यक्ति के समान कोई है वो भगवान नहीं हो सकता तो भगवान ये शब्द की परिभाषा है वे सर्वोपरि एक व्यक्ति परंतु वो एक भगवान थे अनेक रूप कृष्ण टू भगवान कृष्ण भगवान भगवान का आदि रूप फिर भी भगवान के अनंत रूप असंख्य रूप राम नृसिंह वराह कुर्म वामन ये सब भगवान विष्णु का इसका मतलब नहीं है कि वो सब लोग भगवान है ऐसे नहीं सब लोग सब प्राणी सब जीव भगवान का अंश है लेकिन सब भगवान नहीं अंश और अंशी अलग तो भगवान कृष्ण के अनेक रूप है और मूल रूप है कृष्ण आद्यम पुराण पुरुषम बनम च वे सबके स्रोत होते हुए भी पुरातन पुरुष होते हुए भी बनम चाह वे सदैव युवक के रूप में स्थित युवक के रूप में हम ऐसे भाषण है हम ऐसे बोलते हैं कृष्ण और कृष्ण का रूप अभिन्न है हम ऐसे बोलते हैं आपका शरीर क्योंकि आप आत्मा है और आप जो आत्मा है आप अभी वो शरीर धारण कर लेकिन कृष्ण भगवान उसको था नहीं भगवान कृष्ण था सचित आनंद रूप कृष्ण ही है कृष्ण का नाम कृष्ण ही है आपका नाम तो कोई भी नाम हो सकता है आपके माता पिता एक नाम रखते तो कोई भी नाम हो सकता सचिन संजय जॉनी बॉबी ऐसा नाम कोई भी नाम हो सकता भगवान कृष्ण का नाम वो उनका नाम है वह वो नाम कृष्ण ही इसलिए हम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं तो वो कीर्तन शब्द रूप है भगवान जिनकी श्रद्धा है वे नाम कीर्तन में भगवान का साक्षात्कार करते हैं कि भगवान स्वयं उपस्थित है शुद्ध भक्तों का कीर्तन जय नाम श्री कृष्ण भज निष्ठा कर नाम है सहित आपने श्री तो भगवान का नाम रूप उनका गुण यश वो सब भगवान ही है भगवत गीता वो भी भगवान है भगवान की वाणी के रूप तो इस प्रकार भारतीय लोग का कर्तव्य है जन्म सार्थक करना कैसे सनातन धाम के द्वारा सनातन धाम का मतलब कृष्ण भक्ति क्योंकि वो सब दूसरे प्रकार का धाम सनातन नहीं है देवी देवियों की पूजा वो सनातन नहीं है देवी देवियों की स्थिति असनातन है और सब कुछ भौतिक वर्ण जो हम इंद्र चंद्र वायु दुर्ग इत्यादि से मिल सकते वो सब अस्थायी भगवान कृष्ण और सभी आत्मा के बीच वो संबंध वो सनातन और ये सब दूसरा धर्म जो है इस्लाम क्रिश्चियन धर्म इत्यादि वो वो भी सनातन धर्म है क्योंकि उनका लक्ष्य है भगवान जो दूसरी भाषा में बोलते हैं अल्लाह गॉड परंतु वो सब धर्म तो पूर्ण सनातन धर्म की छाया जैसे अपूर्ण अभिव्यक्ति क्योंकि उसमें भगवान कौन है और हमारा क्या संबंध है उनके साथ इसके बारे बारे में पूर्ण ज्ञान नहीं है तो इसलिए जो भाग्य का पाव के अनुसार वास्तव सनातन धर्म अवलंबी है तो दूसरे लोग जो वो अपूर्ण या भूलयुक्त धर्म पालन करते हैं तो सनातन धर्म अवलंबी का अंत दूसरे धर्म के लोग को घृणा नहीं करते परम धर्म है प्रेम धर्म धर्म पालन करने से यदि हम भगवान को प्रेम नहीं करते हैं तो वो धर्म का कोई धर्म नहीं और यदि हम भगवान को प्रेम करते हैं हम कोई दूसरों को घृणा नहीं करते क्योंकि हम देखेंगे कि वो सब लोग भगवान के हैं भगवान किसी को घृणा नहीं करते तो इसलिए हम नहीं बोलते कि हम हिंदू तो पृथ्वी की दृष्टि में इस कृष्ण भक्ति He जो पूरी प्रतिदिन प्रसारित हो गया है वो हिंदू धर्म का एक अंश जैसे देखते हैं तो वो लौकिक विचार है किंतु आध्यात्मिक विचार में ये हिंदू धर्म नहीं है सनातन धर्म तो हिंदू धर्म एक बहुत भूल भ्रांति भी है वो भी अंशिक धर्म पूर्ण धर्म नहीं है तो पूर्ण धर्म है खाली इसको समझ कि कृष्ण भगवान भी है और भगवान ये शब्द का क्या मतलब इसको समझना चाहिए वे पूर्ण है सभी वस्तुओं और सभी प्राणियों के मूल स्रोत और मूल आधार है वे सर्वाराध्य सर्वोप्रिय और सर्वाराध्य है और सब जीव का धर्म कर्तव्य है उनकी सेवा करना तो इसको समझना सरल विचार समझना और इसके अनुसार जीवन व्यतीत करना अर्थात जीवन में कृष्ण भक्ति मूल केंद्र बनाना यही सनातन धर्म तो हिंदू ये शब्द असनातन सब संस्कृत शब्द जो है वो संस्कृत इस भाषा संस्कृत संपूर्ण कृत अर्थात पूर्ण भाषा है और इस संस्कृत भाषा का विशेष उद्देश्य है भगवान का वर्णन करना शास्त्र में और उनकी स्तुति करना तो ये संस्कृत भाषा में ये हिंदू शास्त्र वस्तु नहीं आधुनिक शब्द अर्थात कई सौ वर्षों के पहले मुसलमान लोग तो भारतवासियों को यही शब्द डाला तो हम सनातन धर्म हैं अर्थात कृष्ण भक्ति धन्यवाद वाले हम कृष्ण के शुद्ध भक्तों कि सेवक के सेवक के सेवक के सेवक के पद राज प्रार्थी है ये हमारे स्थिति हम नहीं बोलते कि मैं मैं भक्त हूँ कितने दिन से आप भक्ति करते हो मेरा भाग्य नहीं था अभी तक मैं प्रयास करता हूँ भक्ति का जो वास्तव भक्त है तो नहीं बोलते कि मैं मैं भक्ति करता हूँ बोलते हैं कि मैं प्रयास करता हूँ भक्ति भक्ति तो इतनी सस्ती नहीं है भगवान कृष्ण इतने महान है और उनकी सेवा करना वो भी महती है तो कृष्ण सेवा करना कम करते हैं ब्रजवासियों राधिका आदि गोपियां नंद बाबा यशोदा मई वासुदेव की उद्धव पंच पांडव और हम कौन है कि मैं भी भक्ति करता हूँ राधा जैसी युधिष्ठिर जया नए हम कौन है हम ऐसी भावना होना चाहिए कि मैं अति पथित हूँ और भगवान के भक्तों बहुत कृपालु है इसलिए ऐसा अधम पति जी को अवसर देते हैं कृष्ण सेवा या प्राथमिक कृष्ण सेवा कृष्ण भक्ति में नम्रता मुख्य है ऐसा नहीं है कि वो नारद है उसको निकालना नहीं नारद कैसे करुण तुम जाओ नहीं भगवान विष्णु का वाहन होगा ऐसे नहीं भक्त के भक्त के भक्त के भक्त ये हमारा परिचय है यदि हम भाग्यवान वो स्थिति भी छोटे तो नहीं है जो भी स्थिति हो भौतिक दुनिया में बिल गेट्स ओबामा क्या नाम बाराक ओबामा मनमोहन सिंह ये सब बड़े बड़े लोग हैं दुनिया में लेकिन उनकी स्थिति एक कनिष्ठ कृष्ण भक्त की स्थिति से बहुत नीचे जो पूरा ज्ञान युक्त नहीं है और पूरी भक्ति नहीं करते लेकिन कम से कम थोड़ी सी भक्ति से भगवान कृष्ण को पत्रम पुष्पम फलम तो यम भक्त्या तदहम भक्ति पाहृतम अश्नामी पाहृतम तो एक नवीन भक्त उनकी प्राथमिक स्तर की भक्ति से भगवान को कुछ फूल फल चल पत्ता भगवान को अर्पण करते हैं भगवान का विचार में वो व्यक्ति बिल गेट्स मनमोहन सिंह इत्यादि से बहुत बड़ा है और यही जीवन का उद्देश्य है तो आज का इंद्र काल का कीट और आज का प्रधानमंत्री ऐसे कीट कुछ हो सकते ऐसे काल चक्र होते हैं तो इसलिए जो बुद्धिमान है तो समय नष्ट नहीं कर लेते हैं कोई भी दूसरा प्रयास ये भारतीय संस्कृति भारत का इतिहास है कौन मुख्य कीर्तिमान व्यक्ति तो आज का शिव जी का यश होता ये सब लेकिन एक्चुअली पुरानी भारतीय संस्कृति में ही सबसे बड़े लोग कौन कौन थे शंकराचार्य रामानुजाचार्य माधवाचार्य बंगाल में चैतन्य महाप्रभु का नाम प्रसिद्ध है वो सब धर्म नेता सबसे प्रसिद्ध और आज तक भारत में तो अगर कोई वास्तव साधु हो तो लोग उनको सम्मान दे आजकल लोग का विवेक भ्रष्ट हो गया तो नकल साधु ऐसे भोगी योगी ऐसे उस प्रकार की योगी को भी लोग सम्मान दे तो वो संस्कृति है तो इसलिए भारत में जन्म लेना एक बड़ा अवसर है इस अवसर को लेना चाहिए इस कल युग में एक कठोर तपस्या करना संभव नहीं है संभव है हरि नाम करना हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम खलो न सेव न सेव न सेव चैतन्य महाप्रभु का विशेष प्रदान है चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम जो योग्य नहीं है कठोर तपस्या करने के लिए दीर्घ काल नहीं शास्त्र अध्ययन करने के लिए हम सब हरि कृष्ण और हरि कृष्ण कीर्तन का प्रभाव इतना सा है कि अभारतीय जो पूरा अयोग्य है वे भी हरिनाम का प्रभाव से प्रभावित हो गया है और वे भी इस भारतीय संस्कृति का मूल प्राण कृष्ण भक्ति ग्रहण करते हैं तो पूरा दुनिया में बहुत लोग आग्रही हैं कृष्ण भक्ति ग्रहण करने के लिए तो इसलिए जन्म सात कर उनका भाग्य है भारत में मनुष्य का रूप में जन्म लेना उनका कर्तव्य है कृष्ण भक्ति के द्वारा अपन दुर्लभ मानव जन्म सार्थक करना और इस कृष्ण भक्ति लेकर पूरी पृथ्वी में जन और प्रचार करना चैतन्य महाप्रभु की इच्छा तो आप लोग कृष्ण भक्ति से मजबूत बन मजबूती का शारीरिक बल तो वो भी है भक्ति का बल बलराम भगवान उनका विशेष प्रदान उनका उनकी कृपा से हम भक्ति में भाव में मिलते हैं और बलराम आदि गुरु है तो गुरु साधु जन्म की कृपा से हम भक्ति में भाव में होते हैं तो बलवान होना चाहिए बलवान का मतलब तो भक्ति से हमारी चेतना हमारा चरित्र इतना उन्नत होना चाहिए कि हमारा और कुछ आकर्षण नहीं रहेगा पापाचार करने के लिए पाप का मतलब क्या है सब कुछ कृष्ण कृष्ण प्रसाद के अलावा खाना कृष्ण की भक्त वेजिटेरियन नहीं है हम कृष्ण प्रसाद से भी है वेजिटेरियन खाना बहुत बहुत प्रकार है लेकिन कृष्ण के भक्तों का संकल्प है कि हम केवल कृष्ण प्रसाद का सेवन करें वो एक प्रकार का से है क्योंकि तो बाहर का चीज बहुत है सुस्वादु लेकिन ऐसे संकल्प होना चाहिए कि मैं केवल कृष्ण प्रसाद ग्रहण और ये व्रत पालन करने से मन शांत नहीं तो इंद्रियों हमेशा हमको टांगते हैं आओ आओ ये चीज खाओ वो चीज उसको प्रकार मन कभी भी शांत भगवान कृष्ण जो हमको देते प्रसाद के रूप में हम ग्रहण और आधुनिक जमाने में स्त्री पुरुष संबंध यौन जीवन का प्रचार बहुत होते हैं लेकिन इससे आध्यात्मिक जीवन का पूरा नाश हो इसलिए कृष्ण के भक्तों संकल्प करते हैं कि अवैध श्री संघ नहीं श्री संघ का मतलब केवल विवाह में और आदर्श संतानों की उत्पत्ति करवाने के लिए स्त्री पुरुष संबंध कठिन है क्योंकि पूरा वातावरण उस प्रकार है काम काम काम परंतु कृष्ण के भक्तों बल मिलते कीर्तन करने से गुरु साधु जन्म से और इस प्रकार उनका आकर्षण नहीं होते ये सब नीचा का नीचा चास रसोबाजिम रसोप्य परम दृष्टान कृष्ण भक्ति में हम इतना सा आनंद मिलते हैं कि जड़ सुख के लिए हमारा आकर्षण है तो इस प्रकार मजबूत होना चाहिए कृष्ण भक्ति और इस प्रकार हम दाव में लेंगे हम आशीर्वाद में लेंगे कृष्ण भक्ति प्रचार कर हमारा प्रचार ये सब अलग अलग है हिंदू ग्रुप का प्रचार उस प्रकार नहीं इस दल में आओ इस कुछ योग करो आयुर्वेद दवा लो उस प्रकार हमारा प्रचार है कि आप पूर्ण सनातन धर्म पालन करो पहले समझ लो आप कौन है भगवान कौन है हम किसी प्रकार का झूठ नहीं देखते भगवत गीता के अनुसार हम चाहते तो भगवत गीता श्रीमद भागवत ये सब वास्तव शास्त्र है हमारा कुछ काल्पनिक चीज नहीं सब प्राचीन अनादि शास्त्र की वाणी है तो चैतन्य महाप्रभु का आज्ञा ग्रहण कीजिए भारत भूमि ते हो मनुष्य जन्म जा जन्म सार्थक करो फरक फरक आप लोग का भाग्य है कि आप मनुष्य का रूप में भारत में जन्म लिया है और उसके अधिक इस शुद्ध कृष्ण भक्ति लाइन में आया है तो इस प्रकार आपका दुर्लभ मानव जन्म सफल बनाए कृष्ण भक्ति के द्वारा और अन्य लोगों के लिए कृष्ण भक्ति प्रचार करो जिससे इनका धर्म उपकार हो ये चैतन्य महाप्रभु का आदेश है हरे कृष्ण अगर किसी का प्रश्न हो जरूर से पूछे Especially, subspecialty